परेण नाक निहित गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशंति इस मंत्र में कहा गया तो गुहा बुद्धि रूप गुहा में स्वयं प्रकाश रूप से ब्रह्म है विभ्राजते यतयो यद विशंति संन्यास करके प्रयत्न करने वाले ब्रह्म साक्षात्कार करके उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तद्रूप हो जाते हैं यतीनाम विशेषणा न्याह ऐसे जो यत्न करने वाले यति सन्यासी उनका विशेषण कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाधित शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेश परांत काले परिमृता परामृता परिमुच्यंती सर्वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था वेदांत विज्ञान न सुनिश्चित अर्थ ये शाम यही सुनिश्चित ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ वेदांत वाक्यजन्य ज्ञान विज्ञान कहन से विशेष ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार ज्ञान से सुनिश्चित अर्थ जिनका अर्थ का एक होता है प्रयोजन एक होता है विषय सुनिश्चित है जिनका प्रयोजन अतः सुनिश्चित है जिसका अर्थ अर्थ है ब्रह्म वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ ब्रह्म जिनके द्वारा जिनको ब्रह्म का निश्चय साक्षात्कार हो गया वेदांत वाक्य जन्य विज्ञान से संन्यास योगात संन्यास के संबंध से संन्यास करके अर्थ करेंगे अभी टीका में यत शुद्ध सत्वा यति पहले पूर्व मंत्र में कहा प्रयत्न करने वाले शुद्धम सत्वम ये ते शुद्ध सत्वा सत्व गुण शुद्ध होता है अंतकरण त्रिगुणात्मक है सत्व रजस तम जब रजगुण तमोगुण बढ़ जाएगा सत्वगुण अशुद्ध होता है सत्वगुण अधिक हो रजगुण तमोगुण कम हो जाए तो सत्वगुण शुद्ध होता है सत्वगुण शुद्ध होने से अंतकरण भी शुद्ध है तो सत्व शब्द का अर्थ अंतकरण भी करते हैं शुद्धम सत्वम ये शाम ते शुद्ध सत्व जिनका अंतकरण शुद्ध है जब सत्वगुण अधिक होता है तो अंतकर्ण शुद्ध होता है का अर्थ रजगुण तमगुण का कार्य कम हो जाता है रजगुण में राग काम क्रोध आदि ही रहित तो हो जाता है शुद्ध होता है राग आदि कषायद रहित काम क्रोधादि दर्प दम्भादि रहित अंतकरण जिनका वो शुद्ध सत्व ऐसे ही अंतकरण जिनका शुद्ध होता है वही साधन कर सकते हैं उपासना विचार वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो शुद्ध सत्व यतय जो साक्षात्कार करते हैं तो तद्रुप हो जाते कहा यदि साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं कोई वेदांत विचार सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन उसमें जो असमर्थ होते हैं मनन नहीं करके करके अहम ब्रह्मास्मि से चिंतन करते हैं वो होता है अहंग्रह उपासना अहंग्रह उपासना करने पर तो ब्रह्म लोग को प्राप्त करते हैं जो सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं तो भी सगुण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ब्रह्मलोक में जा कर के रहते हैं तो वहाँ ब्रह्म के भी आयु निश्चित है सौ वर्ष आयु है सौ वर्ष उनका दिन हमारे एक हजार चतुर्युग हो तो उनका एक दिन होता है और एक हजार चतुर्युग हो तो उनका रात होता है एक दिन रात मिलकर के पूरा दिन होता है दो हजार चतुर्युग हमारा हो जाता है चतुर्युग है चार युग सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग मिलकर के एक चतुर्युग एक हजार चतुर्युग हो जाएगा तब ब्रह्मा का दिन उसके बाद एक हजार चतुर्युग पर्यंत तो ब्रह्मा का रात है और चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कलयुग है दो गुना द्वापर तीन गुना त्रेता उसका चार गुना सत्य गुण सत्ययुग मिल करके तेयालीस लाख बीस हजार हो जाएगा एक चतुर्युग तो इसे ब्रह्मा का एक हजार चतुर्युग दिन एक हजार चतुर्युग रात दो हजार चतुर्युग होने के बाद तीस गुना करेंगे तो मास होगा बारह गुना फिर करेंगे तो वर्ष होगा पचास वर्ष में एक परार्ध होता है तो द्विपरार्ध होने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं पहले से ही ज्ञानी है किंतु उनको ऐसे कार्यभार दिया गया अवतारी पुरुष है ब्रह्म ब्रह्मा रहते हैं जो लोग उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु जब तक है तब तक ब्रह्म लोक में रहेंगे उसके पश्चात ब्रह्मा जब समाप्त हो जाएंगे तत्ते ब्रह्म लोक में रह करके जो यत्न करने वाले उपासना करने वाले अंतकोण शुद्ध है ऐसे ब्रह्म लोक में सगुण ब्रह्म साक्षात्कार करे अथवा अहं ग्रह उपासना करके ब्रह्म निश्चय करे वेदांत विचार करते समय जिनके ब्रह्म लोक प्राप्ति की इच्छा हो ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म लोक प्राप्त करेंगे परांत काले पर से अंत काले परांत काले पर है ब्रह्मा कार्य ब्रह्म को परस्पति से कहा उनके अंत काल में आयु समाप्त होने पर अंत काल में परामृतात् परिमुचंते सर्वे सर्वे परिमुचंते मुक्त हो जाते हैं परामृतात् परम च तद अमृतम च परामृतम तस्मात् प्रकृष्ट अमृत है अमरण धर्म अन्य जितने अमरण है अजर अमर देवता है वो सापेक्ष है कम समय में नष्ट होते हैं उसके पीछे अधिक है जो ब्रह्मा जी है और परामृत है अमरण धर्म वाले अमृत है अव्याकृत अर्थ क्या अव्याकृत है व्याकृत होने के पहले जगत की अव्याकृत अवस्था है बीज रूप है तो बीज होता है ईश्वर है बीज माया विशिष्ट चेतना कहीं कारण रूप से माया को भी कहते हैं कार्य प्रपंच है क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्यते अक्षर कूटस्थ कारण तो माया केवल कारण नहीं होगा चेतन के बिना चेतन भी केवल कारण नहीं हुई शक्ति के बिना तो शक्ति विशिष्ट चेतन को ही माया विशिष्ट चेतन इसको जगत कारण कहते हैं उसमें उपाधि है माया चेतन है विशेष कहीं चेतन को विशेषण करके माया को प्रधान करेंगे तो माया चेतन विशिष्ट माया चिदाभास विशिष्ट माया माया विशिष्ट चेतन कहेंगे तो चेतन प्रधान हो गया माया विशेषण और चिदाभास विशिष्ट माया कहेंगे तो माया प्रधान हो गया विशेष्य और चेतन चिदाभास विशेषण हो जाएगा तो एक ही तत्व है उपाधि प्रधान हो तो माया को भी अव्याकृत कहते हैं उपहित तो को प्रधान विवक्षा करेंगे तो ईश्वर को भी अव्याकृत कहते हैं तो उसी रूप से माया विशिष्ट चेतन अथवा कार्य ब्रह्म उससे मुक्त हो जाते हैं परामृतात् परिमुचंती सर्वे मुक्त हो जाते हैं जो ब्रह्मलोक में स्थित है उपासना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं वहाँ ब्रह्मलोक में उनको उपदेश ज्ञान हो जाएगा पहले प्रयत्न से अथवा ब्रह्मा जी के उपदेश से ज्ञान होने पर मुक्त हो जाते हैं ज्ञान के बिना नहीं है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वेदांत प्रसिद्ध वेदा अंत वेदांता वेदानाम है वेद शाखा वेद से अलग अलग है एक हजार एक सौ अस्सी है प्रत्येक शाखा में अंत में ज्ञान कांड है अंत का अंतिम है अंत का सार भी है वेद का अंत सार उपनिषद भाग वेदांता प्रसिद्धा तेभ्यो जातम वेदांत विज्ञानम वेदांत विज्ञान क्या वेदांत तो है वेद है शब्दात्मक वो विज्ञान कैसे हो गया वेदांताद जातम विज्ञान वेदांत विज्ञानम वेदांत प्रमाण से ही ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान के लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं तन त्वपनिषदम पुरुषम पृछामी से कहा गया उपनिषद प्रमाण है तो उपनिषद महावाक्य से ज्ञान होता है तो वेदांत से तेभ्यो जातम तेभ्य का अर्थ वेदांतेभ्य जातम विज्ञानम विज्ञान में विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम प्रादि समास है विशिष्टम विज्ञान विज्ञान तो सब ज्ञान तो सब है घट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये भी ज्ञान है वेदांत से ज्ञान होने वाला जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है विशिष्ट ज्ञान है विशिष्टम कौन अहम ब्रह्मास्मिति ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ये विशिष्ट है ज्ञान विज्ञान है विशिष्टम ज्ञान विज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान वेदांत विज्ञाने सुनिश्चित अर्थ ऐसा तस्मिन एव तस्मिन का अर्थ कस्मिन वेदांत विज्ञाने तस्मिन एव वेदांत विज्ञान में ही सुनिश्चित अर्थ प्रयोजनम ये शाम ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ है वेदांत विज्ञान में ही सुनिश्चित है जिनका प्रयोजन अर्थ का तो प्रयोजन किया उनका प्रयोजन निश्चित हो गया वेदांत विज्ञान में ही उनका प्रयोजन अर्थात उसी से ही सब सिद्ध होगा वेदांत विज्ञान भी हो जाए और थोड़ा संसार सांसारिक फल भी मिल जाए बहुत लोग इसे चाहते हैं पहले थोड़ा सा उपभोग हो जाए ख्याति नाम हो जाए फिर ज्ञान हो जाए फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न तो करेंगे उसके पहले थोड़ा तो हो जाना चाहिए कहते थोड़ा ठीक से रहेंगे ठीक से रहेंगे मतलब साधारण ऐसे साधु बन करके लाइन कहीं क्षेत्र में जा करके पंक्ति में खड़े होकर के अर्थात द्वारा द्वारा घर जाकर मांगना ये तो कोई थोड़ा ढंग से रहना और नाम ख्याति कथा प्रवचन करे भक्त शिष्य हो जाए उसके बाद प्रयत्न करेंगे ज्ञान हो जाएगा नहीं तो अभी भी प्रयत्न करते ज्ञान नहीं होने पर अपने को ज्ञानी मान करके दूसरे दूसरे में लग जाते हैं ये ऐसा नहीं तस्मिन एवं सुनिश्चित अर्थ ऐसा वेदांत विज्ञान में ही उनका प्रयोजन सुनिश्चित है सब कुछ प्रयोजन उसमें और कोई प्रयोजन नहीं है तस्मिन एव सुनिश्चित अर्थ ऐसा जिनका प्रयोजन निश्चित है उसमें वेदांत विज्ञान में ही जो कुछ प्रयोजन सब कुछ एक ही ये मोक्ष प्राप्त करना मुमुक्ष को वेदांत विज्ञान में ही उनका प्रयोजन निश्चित तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ अर्थात वेदांत विज्ञान से अन्य कोई प्रयोजन उनका है ही नहीं ते तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ एक व्याख्यान किया गया दूसरा व्याख्यान है अर्थ शब्द कहते विषय कन के सुनिश्चित अर्थ वेदांत विज्ञान है ना सुनिश्चित अर्थ ये शाम सुनिश्चित सुनिश्चित अत्यंत निश्चित है अर्थ यही यही है अर्थ सुनिश्चित वेदांत विज्ञान है न वेदांत जन्य ज्ञान से जिनका अर्थ ब्रह्म रूप अर्थ निश्चित है अत्यंत निश्चित है संशय विपर रहित निश्चय हो गया इदम इत्थमेव इति सम्यक अवधारित अहम अस्मिन परम ब्रह्म ये से दृढ़ निश्चय हो जाता है सम्यक अवधारित ब्रह्म लक्षण अर्थ यही ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था वेदांत विज्ञान है ना सुनिश्चित अर्थ ये यही ही तो जिनके द्वारा ऐसा अर्थ ब्रह्म रूप अर्थ निश्चित है इधम इतमेव अद्वितीय ब्रह्म जीव अभिन्न तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित सुनिश्चितार्थ संन्यास युगात सम्यक न्यास संन्यास संप्रोक न्यास है निपूर्वक धातु से कहें संन्यास सम्यक न्यास सम्यक न्यास है नितराम असुक्षेपण त्याग न्यास का अर्थ त्याग है और संन्यास का अर्थ सम्यक त्याग त्याग थोड़ा नहीं पूरा पूरा सम्यक संन्यास योग का अर्थ कहते सम्यक न्यास संन्यास विग्रह है और सम्यक कैसा है त्याग वांत विष्ठाधिपत लोक द्वय भोग से न्यास त्याग तो करना है किसका त्याग करना भोग से भोग त्याग भोग इच्छा का त्याग लोक द्वय में भोग यह लोक परलोक भोग यह लोक परलोक भोग का त्याग भोग इच्छा का त्याग भोग इच्छा का त्याग किस प्रकार दृष्टान्त दिया वांत विष्टाधिपत वांत है वमन किया गया उल्टी की गई कोई भ्रमण कर देता है कुत्ते आदि तो भ्रमण करके खा लेते हैं अन्य कोई भ्रमण करता है खाए किंतु मनुष्य कोई तो उल्टी करके ही उसको कभी लेता है फिर वांत और विष्ठा आदि विष्ठा आदि भी कुत्ते आदि खा लेते हैं किंतु वांत विष्ठा आदि मतलब ये दृष्टान्त दिया थोड़ा सा भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो उल्टी करने के बाद कोई अच्छा खाद्य खा उल्टी कर दिया उल्टी करने के बाद उसमें से थोड़े फिर खा लेता है मांतविष्ठाधिपत पूरा पूरा त्याग कहीं कहीं दिया काक विष्ठादिवत वैराग्य कैसे ब्रह्मलोक आदि पर्यंत काक विष्ठा काक विष्ठा विष्ठा तो कहन से तो है तो काक विष्ठा कहन से अत्यंत घृण्य है तो विष्ठा तो अत्यंत है उसी प्रकार लोक द्वय से भोग से न्यास त्याग यह लोक परलोक में जो भोग का त्याग भोग का त्याग मतलब खाएगा नहीं पिएगा नहीं ऐसा नहीं जो प्रार्ध देह धारण करने के लिए भोग करेगा देह धारण करना है साधन करने के लिए उसके लिए जितने शरीर धारण करने के लिए ग्रहण करेगा अधिक इच्छा का अधिक भोग नहीं भोग इच्छा का त्याग ये संन्यास है सम्यक न्यास और भोग त्याग नहीं करेगा पर लोक में भोग नहीं करेगा तो परलोक प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करेगा कर्म करने से परलोक में स्वर्ग आदि सुख मिलेगा ये स्वर्ग में हो अथवा मृत्य में इसमें हो सुख मिलता है पुण्य कर्म से जो आगे जन्म में सुख चाहता है पुण्य कर्म करेगा जब आगे लोक की इच्छा नहीं पुण्य स्वर्ग की इच्छा नहीं तो कर्म भी नहीं करेगा और कर्म साधन कर्म करने के लिए धन है कर्म साधन पत्नी भी है कर्म करने के लिए विवाह करके पत्नी पानी ग्रहण करेगा तो कर्म करने के लिए अधिकार है जब परलोक प्राप्ति के लिए कर्म भी नहीं करेगा कर्म साधन धन पत्नी आदि की आवश्यकता नहीं सबका त्याग तो सब का त्याग कर देता है ये सन्यास ही मुख्य उद्देश्य होता है ऐसा त्रय संन्यास पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशणा इच्छा है ऐसा पुत्र की इच्छा धन की इच्छा लोक की इच्छा पुत्र इच्छा में सन्यासी पुत्र नहीं चाहे तो शिष्य चाहते हैं भक्त चाहते हैं वो भी नहीं चाहिए धन की इच्छा नहीं और लोकेशना में एक लोक वासना लोक हमको अच्छा कहे और एक लोक फल प्राप्ति की इच्छा है परलोक प्राप्ति की इच्छा ये ऐसा त्रय का त्याग कर दिया वो वास्तव संन्यास सम्यक न्यास हुआ यह लोक परलोक भोग भोग इच्छा का त्याग संत्याग संन्यास तस् योग संबंध संन्यास का संबंध अहम संन्यासी अस्मी बोध <clears throat> यह हमेशा ध्यान रखे संन्यास के बाद कुछ जो सन्यास लेंगे अभी सन्यास नहीं है उनका भी उद्देश्य हम संन्यास सन्यासी सम्यक न्यास करेंगे भोग इच्छा का त्याग भोग नहीं चाहिए ऐसातर है संन्यास जिन्होंने सन्यास ले लिया वो भी भूले नहीं अब हम क्या है सब ऐसा का त्याग करके है इसलिए प्रतिदिन स्नान के पश्चात कभी जा के हाथ उठा करके प्रेस मंत्र करते हैं उसका स्मरण करते हैं सबको मैंने त्याग कर दिया सन्यास लेने के समय में ऐसे संकल्प करके प्रतिज्ञा करते सब त्याग कर दिया यह लोग परलोक सब कुछ है स्वर्ग तक ब्रह्मलोक तक सब इच्छा का त्याग उसको भूले नहीं निरंतर ये मंत्र भी देते हैं उसको थोड़ा जपते हैं अर्थ चिंतन करते हैं प्रतिज्ञा करते हाथ ऊपर उठा करके सब देवताओं को सबको साक्षी रह करके सबका त्याग इसलिए कहा तस्य योग सन्यासी अस्मिति बोध ये नहीं सन्यासी मैं हूँ करके अभिमान के लिए नहीं बोध निश्चय कि मैं सबका त्याग किया सबका त्याग करने का उद्देश्य क्या है एक पर ब्रह्म प्राप्ति पर ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात तो लक्ष्य सामने रखना है संन्यास अस्मृति बोध का अर्थ यह लोक परलोक का को, कोई भोग लोक प्राप्ति का साधन धन पुत्र ख्याति आदि कुछ भी नहीं चाहिए एक परमात्मा का साक्षात्कार हो मुक्त हो जाए ये निश्चय हमेशा रहे कि मैं हूँ क्या क्या मेरा लक्ष्य है किस लिए अभी भिक्षु है भिक्षु कहते सन्यासी को और सामान्य लोग को भीख मगा कहेंगे <laughs> तो भी अंदर सोचे नहीं कहे तो भीख मगा क्यों बन गया इसको भूले नहीं उधर भिक्षु संन्यास धारण करते भिक्ष भिक्षा मांग कर खाने के लिए मांग कर खाने के लिए मांग कर खाते हैं बैठे बैठे कर मिल जाता है तो भी उसका नाम भिक्षा है जो सामने भोजन आता है कोई सम्मान करके पूजा कर भी खिलाए तो भिक्षा ही है भिक्षा अपना अधिकार नहीं तो भिक्षा है मांग कर खाना है तो ये मांग कर खाने के लिए जो रूप धारण किया दीक्षा लेकर के सन्यासी इसका बोध है सन्यास अस्मि इति बोध वो हमेशा रहे मेरा ऐसा करने से अपना लक्ष्य हमेशा सामने दिखे लक्ष्य निश्चय करे जीवन का लक्ष्य तो उसकी ओर चलना है लक्ष्य निश्चय करने का तो लक्ष्य निश्चय करके उसको ओर चलना चाहिए उसको भूलना नहीं चाहिए तो थोड़ा कुछ मिल गया सम्मान धन संपत्ति इकट्ठी भक्त लोग इकट्ठे हो गए तो भूल जाते हैं कि मैं सन्यासी भिक्षु भिक्षु हूँ मैं भिक्षु इसको भूलना नहीं चाहिए कोई साधारण लोग भिक्षा में जाते हैं तो उनको तो सोचते ये तो मांग कर खाने वाले और हम बहुत बड़े हैं <laughs> हमारे पास इतनी संपत्ति और नहीं संपत्ति जितने हो संपत्ति तो ग्रह किसी का भी संपत्ति नहीं किसी की वो है उसके रक्षक सामान्य भाषा में क्या कहेंगे चौकीदार <laughs> रक्षक है ना इसका चौकीदार देखभाल करने वाला लेकर कोई जाएगा ऐसे चौकीदार देखभाल करने के रहता है धन संपत्ति जिसके पास हो सन्यासी हो गृहस्थ हो सब चौकीदार है <laughs> उसकी रक्षा कर जाएंगे और खुश है हमारे पास इतने है कुछ लाभ नहीं होता है जिसके पास हीरा आदि बहुत है अब हिसाब करता रहता है इतने मेरे पास है कितने रुपया कितने करोड़ हमारे पास है बड़े खुश है खाने के लिए अब बस सूखी रोटी एक दो <laughs> खा सकता है नहीं खा सकता है और भी समय पर नहीं खा सकता है तो ये भूले नहीं अपना संन्यास या स्मृति बोधो जितने कुछ भी हो जाए कि मैं भिक्षु हूँ भूले नहीं तस्मात यतय संन्यास युगात यतय उससे यति संन्यास ऐसे होने से निरंतर लक्ष्य की ओर चलना है ये व्याख्यान क्या यति यत्न करने वाले जो लक्ष्य को भूल जाएगा वहाँ उसके ओर कैसे चलेगा वो तो अन्यत्र चलेगा लक्ष्य को भूल करके इधर उधर फंस जाते हैं लक्ष्य छोड़ देते हैं लक्ष्य से चित्त हो जाते हैं अनेक हो जाते हैं समझदार व्यक्ति थोड़े सा प्राप्त होने के बाद धन संपत्ति ख्याति भक्त आदि मिल गए लक्ष्य को छोड़ करके दूसरे रास्ते में चले जाते हैं हानि किसकी संसार की हानि या ईश्वर की हानि या भक्तों की हानि अपनी अपनी हानि किसी की नहीं कि अपनी हानि <laughs> अपनी हानि नहीं अपने लक्ष्य छोड़ दिया इसलिए जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तो तक लक्ष्य को सामने रख करके लक्ष्य को चले तदयुगा तस्माद यत यह यत्न करने वाले व्याख्यातम यतय पूर्व मंत्र में कहा प्रयत्न करने वाले संन्यास पूर्वक प्रयत्नशील फिर यति शब्द पूर्व मंत्र में कहा था यतय यहाँ फिर यतय क्यों कहा तो कहते पुनर आदानम विशेषण कथनार्थम पुनरादान फिर ग्रहण किया था यति शब्द का उसके विशेषण कहने के लिए यति कैसे होना चाहिए शुद्ध सत्वा यतय शुद्धम सत्व ये शाम ते शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व अंतकर्ण शुद्ध है अंतकर्ण शुद्ध क्या है राग आदि कषाय रहित राग आदि रहित राग द्वेष अभिनिवेश भी है काम क्रोध आदि भी है जितने अशुद्धि है वो सब का अभाव होने पर अंतकर्ण शुद्ध होता है जब सत्वगुण अधिक हो जाता है रजगुण तमगुण कम होता है पाप पाप आदि कम हो जाता है राग द्वेष कम हो जाता है समदमादि संपन्न हो गया शुद्ध हुआ ऐसे अंतकण होने पर ही ज्ञान प्राप्त करता है क्रम मुक्ति हो सद्य मुक्ति हो अंतकोण शुद्धि की आवश्यकता है अंतकोण शुद्धि की आवश्यकता केवल ज्ञान के लिए ज्ञानी के लिए नहीं भक्ति के लिए भी योगाभ्यास करने के लिए कोई साधन करे योगाभ्यास करने के लिए भी यम नियम पहले आया सबके लिए चाहिए शुद्ध सत्वा शुद्धम सत्वम ये शाम सत्व का तो अंतकरण क्या शुद्ध है राग आदि कसा रहित राग देश काम क्रोध आदि रहित कलमस रहित ये शाम अंतकरण ते शुद्ध सत्वा <coughs> ऐसा होने पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सद्य मुक्त हो जाते हैं किंतु यदि कभी प्रतिबंध के कारण नहीं होगा एवं भूतापि कुतचित प्रतिबंधात अस्म शरीर अनत्पन्न साक्षात्काराश्चेत तदा यदि सब ऐसे यो, योग्यता है साधन करते यत्न करते हैं यतय अंतगुण शुद्ध है तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं किंतु यदि किसी प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हो पाए ब्रह्मसूत्र में अभी आया था अप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शनाथ कोई प्रतिबंध विशेष नहीं हो तो इसी जन्म में ज्ञान हो जाता है कोई प्रतिबंध है तो इस जन्म में ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे जन्म में ज्ञान होगा जिनकी ब्रह्मलोक की इच्छा थोड़ी अंतर हो तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे श्रवण मनन करने वाले भी भी और उपासना के द्वारा अहंग उपासना हो सगुण ब्रह्म उपासना करके जब ब्रह्मलोक जाते हैं तो ब्रह्मलोक रहने के बाद कैसे मुक्त होंगे उनके लिए कहते हैं कुतचित प्रतिबंधा अस्विन शरीर अनुत्पन्न साक्षात्कार आचेत अनुत्पन्न साक्षात्कार ये शाम जिनका साक्षात्कार नहीं हुआ इस शरीर में इस जन्म में किसके कारण कुतचित प्रतिबंधा किसी प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हो पाया कोई कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से है तो साक्षात्कार नहीं होगा बिल्कुल वैराग्य कुछ नहीं चाहिए और संशय विपर्य भी प्रतिबंधक होता है श्रवण से समझ आ जाता है समझ लिया मैं ब्रह्म थोड़ा विचार करके समझ आ गया किंतु संशय पूरा दूर होने तक श्रवण मनन करना चाहिए मनन करने पर ये संशय प्रमेय संशय निवृत्त होता है कैसे संसार मिथ्या है ये प्रपंच दिखता है वो मिथ्या है हो तभी तो ब्रह्म अद्वितीय होगा अद्वितीय ब्रह्म ये तभी निश्चय होगा शब्द से तो अद्वितीय ब्रह्म मान लेते अद्वितीय ब्रह्म कोई कोई कहते अद्वितीय ब्रह्म का क्या अर्थ ब्रह्म दो तीन चार पाँच नहीं एक ही ब्रह्म है ब्रह्म जैसे यहाँ सभागृह सत्संग एक है कलाशासन में सत्संग घर कितने सभागृह एक है इसका अर्थ उससे भिन्न कोई मकान नहीं है तो एक सत्संग है इसी प्रकार ब्रह्म एक का अर्थ क्या है ब्रह्म एक है दो तीन चार पाँच दस बीस नहीं है एक ही ब्रह्म है अब ब्रह्म से भिन्न सब कुछ है मनुष्य पशु पेड़ पौधे सब कुछ सत्य है ब्रह्म केवल एक ऐसा कोई मानते अद्वितीय का अर्थ एक ही है एक ब्रह्म है उसे किंतु वस्तुतः तो अद्वितीय का अर्थ क्या है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है यह ब्रह्म अद्वितीय बहुत लोग ऐसा करते ब्रह्म अद्वितीय का क्या अर्थ है एक ही परमात्मा ब्रह्म एक है ईश्वर एक है दो तीन चार नहीं देवता बहुत है मनुष्य बहुत है जीव बहुत है सब कुछ है किंतु परमात्मा ईश्वर एक है ये अर्थ नहीं अद्वितीय का अर्थ अविद्यमान द्वितीयम यस्मात् जिससे भिन्न द्वितीय कुछ भी नहीं सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं उससे भिन्न कुछ भी नहीं है इसको श्रुति कहते नेह नानास्ति किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं नहीं कि वो नेह नाना किंचन का अर्थ क्या करते मालूम है नाना का अर्थ करते नानात्व यह ब्रह्मणी नानात्व नास्ति ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है ब्रह्म में अनेकत्व नहीं जीव में अनेकत्व है देवता में अनेकत्व है नक्षत्र में अनेकत्व है ये सब तो अनेक है ही ब्रह्म में नानात्व नहीं है एकत्व है एक ही नाना का अर्थ नानात्व तो कर देते हैं नानात्व तो नहीं मतलब क्या अर्थ होगा ब्रह्म एक है अब ब्रह्म से भिन्न कुछ है तभी ब्रह्म में नानात्व तो नहीं मतलब ब्रह्म दो तीन चार पांच नहीं एक ही है दो तीन नहीं तो अधिक भी नहीं है एक ही है उससे भिन्न सब है यही सार्थ करते हैं श्रुति कहते नेह नाना अस्थि यह ब्रह्मणी ब्रह्म में नाना है ही नहीं भेद है ही नहीं ब्रह्म में एक से बिना कुछ भी नहीं है चेतन तो अलग नहीं जड़ भी नहीं है तो जड़ चेतन कुछ भी नहीं दिखते हैं कितने जीव और जड़ सारा प्रपंच दिखता है ये है ही नहीं श्रुति तो कहती है ये संभव कैसे प्रत्यक्ष दिखता है सब व्यवहार करते हैं भोजन के बिना नहीं चलता है ठंडी गर्मी लगती है और है ही नहीं कैसे है नहीं है नहीं शब्द से कहते ये भी कहते है नहीं कुछ लोग निंदा करते हैं कहते नेह ना लाती नहीं ये नहीं कहते सब चाहिए भोजन भी चाहिए खाद्य चाहिए पानी चाहिए सम्मान चाहिए सब चाहिए अब भोजन में भी बहुत प्रकार भोजन तो हम तो खुश होते हैं और कहते कुछ यही नहीं <laughs> कहते कुछ यही नहीं और थोड़ा नमक भी ना हो गया तो दाल सब्जी में नमक नहीं <laughs> जगत नहीं तीनों काल में जगत नहीं और दाल सब्जी में नमक नहीं <laughs> थोड़ा नमक नहीं तो नहीं चलता है कहते है ही जगत ये कैसे हो सकता है इसलिए कोई कहते नाना नास्तिका था नाना तो नहीं है ब्रह्म एक है दो तीन चार नहीं और बाकी जगतों को सत्य मानते हैं ये श्रुति का तात्पर्य नहीं नाना भेद नहीं है तो भेद नहीं श्रुति कहने पर कैसे हो सकता है इसके लिए मनन करना पड़ता है मनन करने के बाद मनन से संशय दूर हो जाए तभी निधिध्यासन होता है तभी ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है जब तक संशय दूर नहीं हो इसलिए श्रवण के बाद मनन की आवश्यकता है ये नहीं रहता तो ज्ञान नहीं होता ये प्रतिबंधक हो जाता है संशय रहेगा तो निधि ध्यान कैसे करेगा ज्ञान नहीं होगा कोई मानते श्रवण से ज्ञान तो हो जाता है किंतु प्रतिबद्ध ज्ञान प्रतिबंध के संशय और विपर्य अच्छा संशय दूर भी हो जाए युक्ति से मनन करके निश्चय समझ में आ गया तो भी देह में जो अहम बुद्धि है उसको कहते विपरीत भावना विपर्य उसकी निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक वो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी विपरीत हन निवृत्ति के लिए निधि ध्यान की आवश्यकता है निरंतर निधि ध्यान करने पर जब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले विजातीय वृत्ति नहीं हो तब साक्षात्कार होता है साक्षात्कार तो श्रवण से कोई मान लेते हैं कोई कहते संशय विपर्य है तो पहले ज्ञान को अपरोक्ष नहीं कह करके परोक्ष कहते हैं और कोई कोई कहते पहले भी अपरोक्ष ज्ञान होता है किंतु दृढ़ नहीं है दृढ़ नहीं क्यों प्रतिबंधक है प्रतिबंधक क्या है संशय विपर्य संशय विपर्य प्रतिबंधक निवृत्त हो जाए तो दृढ़ अपरोक्ष तो पहले अपरोक्ष कहेंगे तो दृढ़ अपरोक्ष ही अज्ञान का निवर्तक है पहले परोक्ष कहेंगे तो अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है दोनों पक्ष में कोई भेद नहीं है शब्द प्रयोग करते हैं कोई पहले अपरोक्ष कहेंगे परोक्ष नहीं कह करके किंतु दृढ़ नहीं अदृढ़ है प्रतिबद्ध ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक नहीं कोई कहते श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है वह अज्ञान का निवर्तक नहीं अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है संशय विपर रहित प्रतिबंधक रहित तो सब के मत में श्रवण के बाद मनन निधिदासन करें संशय दूर हो जाए अथवा किसको पहले यदि विपरीत भान निवृत्त हो जाए योगाभ्यास करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है देह में अहम बुद्धि नष्ट होती है ऐसे यदि पहले कोई करे किसी प्रकार हो संशय विपर रहित ज्ञान अज्ञान का निवर्तक यदि संशय विपर रहित तो ज्ञान नहीं हुआ तो साक्षात्कार नहीं हुआ अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं हुआ इसलिए कुतचित प्रतिबंधात किसी प्रकार कोई वासना हो अथवा संशय विपर्य है तो साक्षात्कार अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं होता है असिन शरीर अनुत्पन्न साक्षात्कार आश्चर्य अनु यदि साक्षात्कार नहीं हुआ अनुत्पन्न साक्षात्कार ये शाम ते अनुपन्न साक्षात्कार से तदा उगता यतय तो यत्न करते तो है फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाएंगे यदि बिल्कुल वैराग्य है श्रवण मनन करते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी शीघ्र ही फिर मनुष्य जन्म प्राप्ति हो जाएगी आगे अभ्यास करेगा किंतु ऐसा नहीं तो थोड़ी किसी वासना है अतः विचार नहीं कर पाता है उपासना करता है विचार अलग उपासना अलग संशय दूर हो तो निधिध्यासन कर पाएगा संशय दूर नहीं तो निधिध्यासन नहीं होता है उसको कहते उपासना अहंग्रह उपासना मैं ब्रह्म से चिंतन करता है तो ब्रह्म लोग प्राप्त करेगा उपासना से तो ब्रह्म लोकेशु यतय ते ब्रह्मलोकी से परांत काले ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेंगे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने के बाद कैसे मुक्त होंगे कहो ब्रह्मलोक से परांत काले ब्रह्मलोक से ब्रह्मा एक है ब्रह्मलोक भी एक है उसे बहुजन कैसे दिया ब्रह्मलोक से ब्रह्मण कार्य से एक लोको कार्य ब्रह्म को ब्रह्मा जी कहते हैं शुद्ध ब्रह्म नहीं शुद्ध ब्रह्म तो व्यापक सर्वत्र ब्रह्म लोक है कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है जो कारण ब्रह्म से कारण भी माया विशिष्ट चेतन है ईश्वर है शुद्ध ब्रह्म से भिन्न ये ब्रह्मा जी है उनका लोक लोक भी एक है ब्रह्म लोक एक है एक है वह लोक तो उसने बहुचन क्यों दिया लोक एक होने पर जैसे भूमि में प्रासाद मकान है नीचे ऊपर होकर के इसी प्रकार अनेक भूमि प्रासादवत अधोपर्यादि न अवस्थिता बहव एतन अभिद्यंते एक ही ब्रह्मलोक होने पर भी नीचे ऊपर होकर के बहुत विभाग से स्थित है भूमि प्रासादवत भूमि नीचे उसमें प्रासाद मकान है मंजिल भी बनाते हैं इसी प्रकार अध ऊपर आदि विभाग है ना अध नीचे ऊपर ऊपर अध ऊपर आदि ऊपर तर उसके ऊपर विभाग न अवस्थित बहव विभाग से लोक अलग है बहुत न अभिधीयते ब्रह्म लोकेशु इस न ब्रह्म लोकेशु बहुत बहुत कहा गया इसलिए उसमें भेद ले करके और अलग अलग लोग प्राप्त करते हैं तो प्राप्य लोक एक होने पर भी प्राप्त करने वाला अनेक होने से ब्रह्म लोकेशु ऐसा भी बहुवचन प्रयोग कर देते हैं तेसु ब्रह्म लोकेशु ते ब्रह्म ब्रह्मलोकेशु परांत काले परस्य अंत काले परांत काले परस्य का था कार्य ब्रह्मणु अंत काले कार्य ब्रह्म के अंत काल में अंत काले विनाश काले कार्य ब्रह्म का विनाश कार्य ब्रह्म भी विनाश ही है समाप्त हो जाते हैं तो विनाश काले विनाश काल कब आता है द्विपराधा अवसान परांत काल है दीपराध अवसान दीपराध की समाप्ति पचास पचास वर्ष एक अपराध दो अपराध समाप्त होता है ब्रह्मा जी का तस्मिन परामृताद परांत काले परामृतात् परिमुचंत सर्वे परम च अमृतम चेती परामृतम तस्मात् परामृताद उत्कृष्टाद अमृताद पर का उत्कृष्ट है अमृत का अमरण धर्मिण अमरण धर्म वाला उत्कृष्ट अमरण धर्म वाला कहने का अभिप्राय जिसका नाश शीघ्र नहीं होता है बहुत दिन तक रहता है अंत तो होता है किंतु अन्य जितने हैं देवता आदि की अपेक्षा अमरण धर्मी उससे अभ्याकृतात् उसका अर्थ क्या परांतात् का तो अभ्याकृतात् वही अव्याकृत है माया है अज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है क्यों ना उसकी निवृत्ति नहीं होती है इसलिए उसको कहते हैं अक्षर कह दिया उसको क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ तो अक्षर उच्चते उसको अक्षर कहते न क्षर तो अक्षर एक ब्रह्म ज्ञान उसके बिना नाश नहीं होने से उसको कहते अक्षर अमरण धर्मी वही अव्याकृत अव्याकृतात् परिमुच्यंती सर्वे परिमुच्यंते मुक्त हो जाते हैं सर्वत्व विमुक्ता भवंती सर्वे निखिला जो ब्राह्मणों में स्थित है सब मुक्त हो जाते हैं विमुक्ता भवंती ब्रह्मलोक की समाप्ति होने पर प्रलय हो जाता है प्रलय तो एक कितने प्रकार है चार प्रकार है एक नित्य प्रलय है नित्य प्रलय कब होता है सुश्रुति अवस्था में गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं अज्ञान में सब लीन हो जाते हैं आपकी सुश्रुति में आपका अज्ञान रहता है उसमें स्थूल सूक्ष्म सब लीन हो गए कारण रूप रहता है ये नित्य प्रलय है और नौमिति नैमित्तिक का प्रलय है जब ब्रह्मा जी सोते हैं प्रतिदिन उनके दिन एक हजार चतुर्युग के पश्चात ब्रह्मा जी सो सोएंगे उसके कारण प्रलय हो जाएगा नैमित्तिक का प्रलय ब्रह्मा जी जब जगेंगे फिर सृष्टि हो जाएगी जब प्रलय हो जाता है सब उस समय कुछ सुख दुख भोग नहीं करते हैं जैसे सुश्रुति अवस्था में से रहते हैं फिर सृष्टि होती है और एक प्राकृत प्रलय है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त तो हो जाए ब्रह्मा जी फिर समाप्त हो गए तो उसमें प्रकृति में सब लीन हो जाएंगे ये प्राकृत प्रलय फिर आगे नया ब्रह्मा बनेगी फिर सृष्टि होती है और एक आत्यंतिक प्रलय ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अज्ञान की निवृत्ति होगी कार्य प्रपंच सब समाप्त हो जाएगा तो वो ब्रह्मलोक की समाप्ति होने पर जो ब्रह्मलोक में स्थित है ज्ञान प्राप्त कर लेते वो मुक्त हो जाते हैं बाकी सब जीव मुक्त हो जाएंगे मुक्त नहीं होगी मुक्त हो जाएंगे तो फिर आगे सृष्टि नहीं होगी सरस्वती में जैसे सब रहते अज्ञान में एक होकर के ऐसा रहेंगे फिर नया ब्रह्मा बनेंगे फिर सब आएंगे सृष्टि ऐसे अनादिकाल से अभी तो कितने ब्रह्मा हो गए मालूम हो गए कितने ब्रह्मा उसका भी हिसाब नहीं कर सकते और उसके बाद उसके बाद अपना जन्म चतुर्युग चतुर्युग सहस्र उनका दिन हुआ उनका सौ साल कितने हुआ इतने कितने युग चल गए अरे एक युग में एक चतुर्युग में कलयुग कितने बार आएगा एक चतुर्युग में कलयुग कितने बार आएगा एक बार चार बार हजार बार आएगा चतुर्युग है ना एक चतुर्युग में चतुर् चतुर्युग में एक चतुर्युग पूछा क्या एक चतुर्युग में तो कलयुग एक बार आएगा हाँ एक दिन में एक हजार चतुर्युग है एक हजार चतुर्युग में कलयुग कितना आएगा एक हजार बार आएगा तो एक चतुर्युग में एक दिन में एक हजार कलयुग एक हजार दापर आ गया और एक कलयुग में कितने बार जन्म होगा चार लाख बत्तीस हजार में <laughs> हिसाब करें तो कितने करोड़ों करोड़ जन्म कितने भोग कर लिया कितने के ब्रह्मा जी चले गए बहुत प्रकार भोग कर लिया कोई वाक्य नहीं है जो ने भटक लिया एक बार नहीं करोड़ों करोड़ बार कुछ चीज़ नहीं जिसका भोग नहीं हुआ सब हो गया तो भी <laughs> पेट भरता नहीं है और चाहिए और चाहिए और चाहिए इसलिए विचार करके सोचे कब से भटक रहे हैं अभी एक समय मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए अभी यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर चक्र संसार चक्र घूमता रहता है बहुत जोर से घूमता है लगता है घूमता नहीं स्थिर है अभी वैज्ञानिक लोग कहते पृथ्वी घूमती है पृथ्वी पर आप है अभी लगता है घूमती है पृथ्वी हम हाँ, भाई तो स्थिर है संसार चक्र में आरूढ़ होकर के अपने को मानते हम स्थिर है घूमता है संसार चक्र वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी घूमती रहती है हमको क्या लगता है हम जहाँ के वहाँ बैठे हैं कहाँ घूमते हैं लगता है कोई घूमता है करिए स्थिर है इसी प्रकार संसार चक्र बहुत जोर से घूमता है कितने चक्र कब से कितने घूम रहा है किंतु लगता है बहुत दिन अभी है इतने साल तक हम रहेंगे इतने साल से है और इतने साल से रहे इतने साल तक रहेंगे स्थिर तो अह प्रतिदिन मरते हैं श्लोक है ना अन्य भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम रोज तो मरते यमा मंदिर में जाते हैं कहाँ जाते हैं यम यमालय यमा मंदिर में रोज जाते हैं बाकी अन्य लोग कहते स्थावर हमें सोचते बहुत दिन जीवित हैं धन सम्पत्ति सब इकट्ठी करते रहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए लक्ष्य को भूलना चाहिए नहीं चाहिए इधानी ब्रह्म ज्ञान अवाप्त्यर्थम उपासना कर्तुर उपवेशनार्थम देश विशेषाधिकम आह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उपासना करतु हो उपवेशनार्थम उपासना करेगा चिंतन करेगा कोई अहंग्र उपासना करते हैं कोई सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं कोई संशय निवृत्त होने के बाद विपर्य भावना निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करते हैं तो ऐसा करने के लिए उपवेशनार्थम बैठ कर के चिंतन करे वस्तुतः तो ये ध्यान करने के लिए बहुत नियम है और श्रवण मनन के पश्चात जो निधिध्यासन वो निधिध्यासन के लिए बहुत नियम नहीं है यदि संशय नष्ट हो जाए तो विपरीत भावना निवृत्ति के लिए निधिध्यासन चलता फिरता भी होता है जो ब्रह्मसूत्र में आया आसीन संभवात बैठ करके उपासना करे वो ध्यान के लिए है वेदांत विचार करने के लिए यदि संशय दूर हो जाए श्रवण के बाद मनन करा करना मनन करने के लिए भी नियम नहीं है कभी भी कर सकता है किसी भी समय मनन करने में मनन कर सकता है संशय निवृत्ति के लिए और मनन करके संशय नष्ट होते ही निधि ध्यान ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है अहम अस्मी ब्रह्म से निश्चय उसके लिए भी नियम आदि की बहुत आवश्यक नहीं नियम आदि आवश्यक नहीं इसका अर्थ नहीं कि स्नान शुद्धि होकर के बैठ कर चिंतन नहीं करके या शुद्ध होकर चिंतन करिए नहीं यद्यपि नियम नहीं अन्य समय कर सकता है तो भी शुद्ध हो करके स्नान करके एक आसन में बैठ करके चिंतन करे तो अच्छा चिंतन होता है जब अभ्यास कर चलते फिरते चिंतन हो जाए तो चिंतन करना चाहिए या बैठ कर ही करना चाहिए चलते फिरते जी चिंतन कर सकता है चिंतन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हाँ यदि कर सकता है तो करे जब तक तो इसे सामर्थ्य आ जाते तो ठीक है नहीं तो अभ्यास करने के लिए जितने हो सकता है चिंतन करे बैठ करके शांत हो करके और एकांत जो कहा है एकांत तो उपासना ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए और निधि ध्यान करने के लिए जो एकांत है वो एकांत है एकांतम द्वैत वर्जनम द्वैत नहीं है द्वैत को छोड़ करके एक अद्वितीय तत्व में रहना एकांत ये तो यहाँ उपासना करने के लिए बैठने के लिए किसी देश विशेष कैसा है ये आगे मंत्र में कहेंगे ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह करवा करवावै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ओ शांति शान्ति